यो हो रेडियो अर्पण एक सय चार थप्लो पाँच मेगा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको छ नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुग्नु भएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लिनको लागि स्वागत गर्नको लागि उहाँले पुष्पगुच्छाले स्वागत गर्नु भएको थियो सत्र वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको थिएन नेपालमा सत्र वर्षमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्ने भएपछि केही दिन अघिदेखि नै यहाँको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरूस्त पारिएको छ अहिले पनि आकाशमा पनि हेलिकप्टरले गस्ती गरिरहेका छन् जताजता नरेन्द्र मोदी त्यतै त्यतै नेपाली सेनाका हेलिकप्टरहरूले गस्ती गर्छन् सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राखेर त्यस्तै सड़कमा पनि नरेन्द्र मोदी हिँडिरहेको बेला सार्वजनिक सवारी साधनलाई हिँड्न त्यतातिर जान दिइएको छैन जो पैदल यात्रुहरू छन् उनीहरूलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले हिँड्न लगाइएको छ तर हेर्नेहरू चाहिँ चाख मानेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण काठमाण्डुको सड़कमा विशेष गाड़ीमा चढ़ेर उहाँ हुम्किरहेको हेरिरहेका छन् भर्खरै सिंहदरबारमा कार्यक्रम सकिएर उहाँ संविधान सभा भवन पुग्नु भएको हो अबको केही बेरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधान सभा भवनमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ चार बजेर पचास मिनटका लागि त्यो समय तय भएको छ चार बजेर पन्ध्र मिनटदेखि बीस मिनटको बीचमा उहाँ संसद भवनको लागि पुग्ने र तीस मिनटदेखि पैंतालिस मिनटसम्म सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ र अहिले त्यही कार्यक्रमको सिलसिला चलिरहेको छ संसद भवनमा पनि मन्त्रीहरू त्यसका साथै संविधान सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र अन्य त्यहाँका कर्मचारीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो संसदको सम्बोधन लगत्तै फेरि होटल हयात जाने गरी कार्यक्रम तय भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वहाँ हयात होटल पुग्नु हुनेछ र भारतीय दूतावासमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने गरी कार्यक्रम तय भएको छ आज साँझ पनि उहाँको कार्यतालिका व्यस्त छ सात बजेर पैंतिस मिनटमा सुशील कोइरालाद्वारा आयोजना गरिने रिसेप्सन अर्थात विशेष भोजमा उहाँ सरिक हुनुहुनेछ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हामी अहिले सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनबाट बोलिरहेका छौं र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा गर्नुहुने विशेष सम्बोधनको प्रत्यक्ष प्रसारणको तयारीमा हामी रहेका छौं अघि तीन बजेदेखि चार बजेसम्म सिंहदरबारमै नेपाल र भारतका बीचमा द्विपक्षीय वार्ताहरू भयो चार बजेदेखि चार बजेर पन्ध्र मिनटमा दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विभिन्न सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा निकालिएको हुलाक टिकटमा विशेष टाँचा लगाउनु भएको छ नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री दुवैले त्यसमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ एक अर्कामा आदान प्रदान पनि भएको छ त्यो विशेष समारोहमा नेपाल सरकारका मन्त्रीदेखि अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो सत्र वर्ष भयो भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले भारतका उच्च अथवा सर्वोच्च कार्यकारीले नेपाल राज्यको भ्रमण नगरेको तर नरेन्द्र मोदी जसले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग आफूले शपथ ग्रहण पछि नै सम्बन्ध सुधार गर्ने नयाँ सिराबाट नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाल भूटान नेपाल चीन नेपाल पाकिस्तान नेपाल नयाँ सिराबाट अर्थात भारतले नेपाल भारत त्यस्तै भारत भुटान भारत चीन भारत पाकिस्तान भारत बंगलादेशसँग सबै छिमेकीसँग विशेष खालको सम्बन्ध स्थापना गर्ने बताउनु भएको थियो त्यसैको सिलसिला हुनुपर्छ उहाँ यसअघि अन्य दुई देश घुमिसक्नु भएको छ त्यहाँ भ्रमण गरिसक्नु भएको छ र नेपाल आउनु भएको छिमेकी देशका रूपमा नेपालमा सत्र वर्षपछि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा के कति सम्झौता होला भनेर विशेष प्रकारले चासोका साथ हेरिएको छ त्यसो त भारतीय संचार माध्यमहरूले पनि यसपालिको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई विशेष प्रस्तुति दिइरहेका छन् विशेष गरी काशीको विश्वनाथ क्षेत्र जुन हिन्दूहरूको एउटा आराध्य देवको क्षेत्र हो अनि अर्को काठमाण्डु जहाँ पशुपतिनाथको हिन्दूहरूका लागि आराध्य देवको क्षेत्र यी दुवैलाई संयोजन गरेर पनि भारतीय संचार माध्यमहरूले विभिन्न विवरणहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको काठमाण्डुमा पशुपतिनाथको मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गर्ने पनि कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ भारतीय दूतावासले सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिकामा यस्तो कुरा उल्लेख गरिएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ विशेष पूजा अर्चना गराउनु भएको छ र उहाँको भ्रमण दलमा ब्राह्मणहरू अर्थात हिन्दूहरूका पुजारीहरू पनि उहीबाट ल्याइएको खबरहरू पनि संचार माध्यममा आएको छ काशीको मन्दिरमा नेपाली मूलका पुजारी रहने र दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मणहरू पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुजारी रहने हिन्दू परम्परा छ यसले गर्दा पनि एक आपसमा अर्थात भारत र नेपालमा सांस्कृतिक विविधता धार्मिक सम्बन्ध जोडिएको विश्लेषण विभिन्न दृष्टिकोणबाट भइरहेको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई विशेष कवर गर्न अर्थात विशेष खबरहरू बनाउन भारतीय संचार माध्यमको पनि ठूलै जत्था काठमाण्डु आइपुगेको छ र विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरी पनि भारतीय संचार माध्यमहरूले तयारी गरेका छन् नेपालका संचार माध्यमहरूले पनि झण्डै एक हप्ता अघिदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण त्यसमा हुने सहमति यसअघि भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणको विविध विषय र प्रसंगलाई आफ्नो प्रस्तुति गरिरहेका थिए तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन सुनिरहनु भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा गर्नुहुने सम्बोधनको प्रत्यक्ष विवरणको पूर्व तयारी अहिले हामी गरिरहेका छौं का लागि सुन्नु हजुर पुराना धेरै सन्धि सम्झौताहरू छन् तिनीहरूको परिमार्जनको चर्चा पनि हुने गर्छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला विशेष के उपहार प्राप्त हुन्छ नेपाललाई भन्ने खालको दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत भइरहेको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संसद भवनमा पुगिसक्नु भएको छ र संसद भवनबाट उहाँले प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्नुभएको विवरण हामीले पनि प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्थात भारतको प्रधानमन्त्रीले सत्र वर्षमा नेपालको भ्रमण गर्न लागेको अवस्था हो र नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक विशेष कार्यव्यवस्था नियमावली बनेर विशिष्ट विदेशी पाहुनाहरूले विशिष्ट विदेशी अतिथिहरूले नेपालको संसदमा सम्बोधन गर्न पाउने गरी व्यवस्था भएपछि सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्वाङको बराबरी झण्डै झण्डै उस्तै हैसियतमा राखिएको विशेष आसनमा बसालेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्ने गरी संसदीय कार्यवाही शुरू हुने लागेको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आसन ग्रहण गर्नु भएको छ संसदीय कार्यवाही अन्तर्गत त्यहाँ विशेष प्रस्तुति रहनेछ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उहाँले कुराहरू भन्नुहुनेछ र यसअघि उहाँको भाषाको विषयमा पनि कुन भाषामा नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा सम्बोधन गर्नुहोला भन्ने पनि अड्कल गरिएको थियो अंग्रेजीमा गर्नुहोला वा हिन्दीमा त्यो त केही बेरमा थाहा हुने नै छ तर विभिन्न संचार माध्यमहरूले हिन्दीमा उहाँले बोल्नुहुने ताकि नेपालको धेरै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरैले हिन्दी पनि बोल्न सक्ने गरी तय भएको छ अब हामी संसद भवन सिंहदरबारतर्फ जुन कार्यवाही भइरहेको छ सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङ बोलिरहनु भएको छ हाम्रो प्रसारणलाई जोड्दैछौ तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन सुन्दै हुनुहुन्छ माननीय श्री सुभाष नेम्बांग पार्लियामेंट के स्पीकर श्री एवं माननीय सांसदगण और आदरणीय सभागृह मां नेपाल आउना पाएकोमा अत्यंत हर्षित छु धैर्य धैर्य वर्ष ही एक पथिक या तीर्थ तीर्थालु को रूपमा मां म यहां को थिए यो भनाई कि एक पटक तपाईले नेपाल को भ्रमण भयो भने यो जीवन पर्यन संबंध में बदलिन्थ्यो प्रथमतः यस सुंदर देश को साधिक और उपमा मफेरी फरके आय को छू प्रधानमंत्री को हैसियत मां पुनः आउन पौधा वास्तव में मैले भाग्यशाली महसूस गर्छु जो यस्तो यात्रा थियो को कार्यालय में प्रवेश गर्न वित्तयकी चाहन चाहन्थे किनकि हमारो नेपाल को संबंध मेरो को उच्चतम प्राथमिकता मध्य हो નિમંત્રણા ઘરનું ભય કોમાં म सरकार र नेपाल का जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म संगे मैले 125 करोड़ भारतीय जनता को माया शुभकामना र सद्भावना लिएर आयो छो आप कल्पना कर सकते हैं कि पल मेरे लिए कितने गर्व की पल है क्योंकि आपकी संसद में मैं पहला मेहमान हूं जिसको आपने बुलाया है और संबोधन करने का अवसर दिया है ये सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी का या भारत के प्रधानमंत्री का नहीं ये सवा सौ करोड़ भारतीयों का सम्मान है मैं इसके लिए आदरणीय स्पीकर सी का और आप अभी सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं और इसलिए हमारे संबंध कागज की किस्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं जन जन के मन के प्रतिगोष के रूप में है हम एक ही सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं मैं मूलतः गुजरात का हूं सोमनाथ की भूमि है और सोमनाथ से भूमि से चल करके मैं राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया है काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ हूं ये वो भूमि है जहां किशोरी जी बचपन में खेला करती थी और आज भी हम जनक का स्मरण करते हैं ये भूमि है जिसने विश्व को अचंबित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है ऐसी एक सांस्कृतिक विरासत की धनी है और इसलिए और जब मैं काशी का प्रतिनिधि बन गया तो मेरा तो नेपाल से नाता और जुड़ गया क्योंकि काशी में एक मंदिर है जहां पुजारी नेपाल का होता है और नेपाल में पशुपतिनाथ है जहां का पुजारी हिंदुस्तान का होता है भारत का हर व्यक्ति इक्यावन शक्तिपीठों के दर्शन की कामना करता है उन इक्यावन शक्तिपीठों में दो शक्तिपीठ नेपाल में है यानी इतना अटूट नाता है हमारा और इतना ही नहीं हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो किसी नेपाली ने शहादत न मोली हो भारत के स्वाभिमान के लिए भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा भारत के लिए जीने मरने वाले उन बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है अगर गुरखा कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं मतलब सच्चाई है ये बात फिल्म मार्शल माणिक शाह ने कही थी ऐसी ये वीरों की भूमि है सांस्कृतिक धारा है और आज मैं कह सकता हूं नेपाल के नागरिकों की नहीं लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पूरे विश्व का ध्यान नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है और नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है मतलब इस सभागृह में बैठे हुए आप सब पर केंद्रित हुआ है लोकतंत्र में विश्वास करने वाला पूरा विश्व आज आपकी तरफ देख रहा है बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है आपको लगता होगा काफी सदन में बैठ करके संविधान के निर्माण की चर्चा कर रहे हैं भिन्न भिन्न धाराओं की चर्चा कर रहे हैं समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के हितों के कल्याण की चर्चा कर रहे हैं इतना नहीं है संविधान के निर्माता के रूप में आपको ये सौभाग्य मिलना उस घटना को मैं अगर और तरीके से देखू हम जिस परंपरा से जीते हैं कभी कुछ ऋषि मन ने वेद निर्माण किए किसी ने उपनिषदें निर्माण की किसी युग में संहिताओं का निर्माण हुआ और जिसके प्रकाश में हजारों साल से हम अपना जीवन निर्वाह और आयोजन करते रहते हैं उसी कड़ी में आधुनिक जीवन में राष्ट्र का संविधान भी एक नई संहिता के रूप में जन्म लेता है नए युग को दिशा दर्शन देने का काम संविधान के माध्यम से होता है जो किसी जमाने में ऋषियों ने वेद के द्वारा पुराणों के द्वारा संहिता के द्वारा किया था एक प्रकार से आप नई संहिता लिख रहे हैं और इसलिए ये सौभाग्य प्राप्त करने वाले आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं बधाई देना चाहता हूं लेकिन संविधान निर्माण की एक पूर्व शर्त होती है संविधान के निर्माण के लिए ऋषि मन होना जरूरी होता है वो मन जो दूर का देख सकता है वो मन समस्याओं का अंदाज लगा सकता है और वो मन आज भी उन शब्दों में अंकित करेगा जो सौ साल के बाद भी समाज को सुरक्षित रखने की समाज की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा कितना पवित्र कितना उम्दा कितना विशाल कितना व्यापक काम आप लोगों के पास है और इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं मैं आपको नमन करने आया हूं मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं संविधान ये किताब नहीं होती है संविधान कल आज और कल को जोड़ता है मैं कभी कभी सोचता हूं भारत का संविधान वो हिमालय को समंदर के साथ जोड़ता है भारत का संविधान कच्छ के रेगिस्तान को नागालैंड की हरी भरी पर्वतमालाओं के साथ जोड़ता है सवा सौ करोड़ नागरिकों के मन को आशा को आकांक्षाओं को पल्लवित करता है आप जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं वो सिर्फ सिर्फ नेपाल के नागरिकों के लिए नहीं दुनिया के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखने जा रहे हो आपको आश्चर्य होगा कि मोदी जी क्या बता रहे हैं मैं सच बता रहा हूं आपका संविधान जो बनेगा वो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं विश्व के लिए एक स्वर्णिम पृष्ठ बनने वाला है तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन सुनिरहनु भएको छ हामी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौं प्रविधिले अलिकति धोका दिएको छ त्यस कारणले गर्दा केही बेर अवरुद्ध हुन गएको छ त्यसका लागि क्षमा चाहन्छौ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा सम्बोधन गरिरहनु भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष विवरण हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौं र हामीले त्यो प्रत्यक्ष विवरणको लागि अलिकति प्राविधिक अक्षमता अर्थात प्राविधिक रूपमा त्रुटि बेहोरेका छौं नेपालको संसदमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ फेरि हामी त्यसलाई जोड्दैछौ आप जब संविधान का निर्माण करेंगे वो संविधान और मुझे विश्वास है कि पीस प्रोसेस के गर्भ से एक ऐसा उम्दा संविधान जन्म लेने वाला है जो कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है लेकिन इससे भी आगे आज दुनिया के हर भूभाग में छोटे मोटे कई गुट ऐसे पैदा हुए हैं जिनका हिंसा में ही विश्वास है शस्त्र के माध्यम से ही सुख प्राप्त करने का उनको मार्ग लगता है विश्व के सामने नेपाल वो देश बनेगा जब संविधान लेकर के आएगा वो दुनिया को विश्वास दिलाएगा कि शस्त्रों को छोड़ करके शास्त्र के सहारे भी जीवन को बदला जा सकता है ये उम्दा काम आप करने वाले हिंसा में विश्वास करने वाले दुनिया के घूटों को नेपाल का संदेश जाएगा कि बम बंदूक और पिस्तौल के माध्यम से भलाई नहीं होती है संविधान की सीमा में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा उम्दा काम आपने शुरू किया है और उन लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की है जिन्होंने कभी शस्त्र में भरोसा किया था शस्त्र को छोड़ करके युद्ध को छोड़ करके बुद्ध के मार्ग पर जाने का रास्ता अपनाया और इसलिए एक ऐसा पवित्र काम आपके माध्यम से हो रहा है इस संविधान सभा के माध्यम से जो विश्व के विश्व के हिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा और आपका प्रयोग अगर सफल रहा तो विश्व को हिंसा से मुक्ति का एक नया मार्ग ये बुद्ध की भूमि से मिलेगा ये मुझे आपके संविधान में ताकत नजर आ रही है और इसलिए मैं उस रूप में इस संविधान सभा को देख रहा हूं उस सामर्थ्य के रूप में देख रहा हूं संविधान किसके लिए भारत प्रारंभ से मानते आया है हमारा काम आपके काम में दखल करने का नहीं है भारत का तो काम आप जो संकल्प करें आप जो दिशा चुने उसमें हम अगर काम आ सकते हैं तो काम आना यही हमारा संकल्प है आपको दिशा देना ये हमारा काम नहीं है आपकी मंजिल को और ले जाना ये हमारा काम नहीं है नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल यह सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा है इसलिए आपके पड़ोस में बैठ करके और हमारे लोकतंत्र के अनुभव के आधार पर हमें अच्छा लगता है जब ये बातें सुनते हुए आप इस दिशा में जा रहे हैं हमें आनंद होता है संविधान वो हो जो सर्व समावेशक हो हर नेपाली नागरिक को गरीब हो अमीर हो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो गांव में हो शहर में हो पहाड़ में हो तराई में हो कहीं पर भी हो हर नेपाली को संविधान जब आए तो उसना लगना चाहिए ये ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में मेरे भी पुष्प की महक है और संविधान निर्माता ऐसा गुलदस्ता बनाएंगे कि जिसके कारण हर नेपाली को लगेगा हां ऐसा बढ़िया गुलदस्ता आया है मेरा फूल भी महक मुझे उसमें महसूस हो रही है वो काम आप करने जा रहे हैं संविधान वो हो जो सर्वजन हिताय हो सर्वजन सुखाय हो किसी एक का भला करने के लिए नहीं संविधान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए संविधान जोड़ता है संविधान कभी तोड़ता नहीं है संविधान विवादों को संवाद की ओर ले जाने का एक मसबल माध्यम होता है और इसलिए चाहे पहाड़ हो तराई हो संविधान जोड़ने का काम करे और अधिक ताकत पैदा करने का काम करे उस दिशा में आप सिद्धि प्राप्त करेंगे ये मेरा पूरा विश्वास है संविधान वर्तमान के बोझ से दबा हुआ नहीं होना चाहिए और ऋषि मन का मेरा तात्पर्य यही है जो वर्तमान से मुक्ति की अनुभूति करता है और जो आने वाले कल को बहुत गहराई से देख सकता है वही ऋषि मन होता है जो संविधान का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए करता है और हमारी सोच होनी चाहिए संविधान में हजारों चीजें अच्छी होगी लेकिन एक कोमा एक फुल स्टॉप कहीं पर भी ऐसा आ गया जो आज तो पता नहीं रहे कॉमा है फुल स्टॉप है पता नहीं लिख दिया लेकिन कहीं पचास साल के बाद सौ साल के बाद कॉमा और फुल स्टॉप के रूप में आया हुआ कोई एकाध चीज कहीं विष बीज न बन जाए विष वृक्ष का जन्म न दें जो नेपाल के इन सपनों को रौंद डाले ऐसी स्थिति कभी आए नहीं ये बारीकी की चिंता ये संविधान सभा करेगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और मैं मानता हूं आपने जो काम शुरू किया वो अपने आप पर गौरव करने वाला काम है शस्त्र को छोड़ करके शास्त्र का स्वीकार करना यही तो बुद्ध की भूमि से निकलने का आवाज है वही तो संदेश है और उस अर्थ में भारत चाहेगा और जो आप लोगों ने तय किया है जो मैंने सुना है और मैं मानता हूं कि बहुत ही उत्तम काम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आज उपलब्ध व्यवस्था में उत्तम रास्ता आपने चुना है और भारत हमेशा आपके संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की कल्पना को पूरा पूरा आदर करता है स्वागत करता है इंतजार यही है कि जितना जल्दी हो इंतजार इसी बात का है नेपाल और भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी हवा इधर उधर हो जाए तो ठंड हमें भी लगती है अगर सूरज यहां तप जाए तो गर्मी हमें भी लगती है ऐसा अतूट नाता है अगर आप चैन से न सोए हो तो हिंदुस्तान चैन से नहीं सो सकता है नेपाल का कोई मेरा भाई भूखा हो तो भारत कैसे आनंद ले सकता है कल जब ये कोशी की घटना घटी समाचार आए मेरी पूरी सरकार लगी रही है भाई कितना बड़ा हादसा हुआ है क्या हुआ है इतनी बड़ी चट्टान गिरी है कोशी नदी का पानी रुका है पता नहीं इतने लोग आपको सताती ये कष्ट आपका है वो मेरा भी है ये आपदा आपकी है तो आपदा मेरी भी है और हिंदुस्तान के किसी कोने में जितनी तेजी से मदद पहुंचाए उतनी ही तेजी से मैंने मदद पहुंचाने के लिए दिशा पकड़ी और लोगों को मैंने भेज दिया क्यों आप मेरे हैं हमारे हैं हम आप अलग हो नहीं सकते और इसलिए आपके विकास के अंदर भारत आपकी जितनी आशा आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है नेपाल जहां से जन्मे हुए बुद्ध ने मन के अंधेरे को दूर किया था विचारों का प्रकाश दिया और मानव जात को एक नई चेतना मिली थी ये नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है को बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते हम खरीदना चाहते हैं हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते आपका पानी और वैसे वैसे तो एक बात मैं नहीं जानता हूं नेपाल में ये बात किस रूप में देखा जाएगा पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं पानी पहाड़ में रहता नहीं चला जाता है और जवानी भी पहाड़ में जवानी थोड़ा सा उम्र बढ़ गई तो मौका ढूंढ चलो कहीं चले जाए रोजी रोटी बेचारे को कहा रोजी रोटी नहीं है वो जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आती वो पानी भी पहाड़ के काम नहीं आता है लेकिन किसी युग में कहा गया होगा हमें इस बात को बदलना है वो पानी पहाड़ के काम कैसे आए वो जवानी पहाड़ को कैसे नए रौनक दें वो वो नए नई दिशा बदलना हम चाहते और इसलिए विकास यही एक उसके लिए मार्ग है भारत युवा देश है नेपाल भी युवा देश है यहां कितने नौजवानों की तादाद है अगर उन नौजवानों के हाथ में अवसर दिया जाए नेपाल की कल क्या नेपाल की आज बदलने का सामर्थ्य इस नौजवानों में है वो अवसर कैसे मिलेगा हम प्राकृतिक सौधार संसाधनों का समुचित उपयोग करके विकास की एक दिशा तय नहीं करेंगे तो कैसे होगा भारत इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है निर्णय आप कीजिए आप अपने नेतृत्व का परिचय दीजिए और अकेले हिंदुस्तान को बिजली बेचकर भी नेपाल समृद्ध देशों में अपनी जगह बना सकता है इतनी ताकत आपके पास है हम इसमें आपके साथ आपकी इस विकास यात्रा में जुड़ना चाहते हैं यहां पर ट्रकों के द्वारा ऑयल आता है युग बदल चुका है पाइपलाइन से क्यों ना आए हम उस काम को पूरा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में यहां के नौजवान भारत आते हैं उनको भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है स्कॉलरशिप पाने वाले नौजवानों की संख्या में मैं बढ़ोतरी करना चाहता हूं अधिक नौजवानों को अवसर मिले और ये मैं आपको समझ लीजिए आज ही घोषणा कर दी उसका फायदा उठाइए जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी पौधा लेने के लिए यहां आए थे आज पूरे विश्व में होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा चल रही है हिमालय जड़ी बुट्टियों के हिमालय के गर्भ में पड़ी है अगर उन जड़ी बूटियों को हम हर्बल मेडिसिन को बढ़ावा दें क्यों न नेपाल दुनिया में सबसे बड़ा हर्बल मेडिसिन का एक्सपोर्टर क्यों न बने क्या क्या नहीं है आपके पास मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए तैयार हूं भारत जो मदद हो सके करना मैं क्योंकि आने वाले दिन में विकास को कैसे किस दिशा में ले जाना आपके पास ये पड़ा है मैं नया नहीं कहता हूं टूरिज्म सवा सौ करोड़ देशवासी आपके पड़ोस में ऐसे हैं जो कभी न कभी पशुपतिनाथ आकर के अपना सर झुकाना चाहते हैं भगवान बुद्ध के पास आकर के शांति का संदेश लेना चाहते हैं क्यों न नेपाल का टूरिज्म उस रूप में विकसित हो ताकि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट नेपाल को मिले और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कम से कम पूंजी से ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो टूरिज्म है टूरिस्ट आता है तो चना बेचने वाला भी कमाता है मूंगफली बेचने वाला भी कमाता है ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है टैक्सी वाला भी कमाता है चाय बेचने वाला भी कमाता है और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे जरा आनंद होता है कहने का मतलब यह है कि टूरिज्म के विकास की इतनी संभावना पड़ी है एडवेंचर टूरिज्म के लिए हिमालय से बढ़कर क्या हो सकता है नेपाल से बढ़कर कौन सी जगह हो सकती है पूरे विश्व के नौजवानों को पागल कर दें इतनी ताकत आपकी धरती के पास पड़ी है मैं आपसे आह्वान करता हूं आइए आगे आइए पूरे विश्व का एडवेंचर यूथ जिसको एडवेंचर करने का मिजाज है जिसको पहाड़ों पर जाने की इच्छा रखती है आप पूरे विश्व के युवा को ललकार सकते हैं आइए कितना बड़ा अवसर है हमें संविधान भी निर्माण करना है हमें नेपाल को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाना है और उसके लिए एक पड़ोसी का धर्म हम निभाने के लिए प्रतिबद्ध है मेरे मन में आया मेरे मन में आया मैंने कहा नेपाल को हिट करें मैं शब्द प्रयोग करूंगा तो शायद आपको बुरा लग जाएगा ये कौन होता है हिट करने वाला लेकिन मैं जब हिट करने की बात करता हूं तब मेरे मन में तीन प्रमुख बातें हैं एच आई टी एक हाईवेज दूसरा आईवेज और तीसरा ट्रांसवेज नेपाल को भारत की जितनी जल्दी ये गिफ्ट दें हाईवेज दें हाईवेज इंफॉर्मेशन भेज पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए नेपाल भी डिजिटल बनना चाहिए नेपाल विश्व के साथ जुड़ना चाहिए हाईवेज चाहिए और ट्रांसवेज ट्रांसमिशन लाइन्स आज बिजली जितनी हम दे रहे हैं नेपाल को उसको डबल करने का मेरा इरादा है और उसके लिए जितना जल्दी ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे अभी हम नेपाल का अंधेरा दूर करेंगे और दशक के बाद अंधेरा हिंदुस्तान का नेपाल दूर करेगा ये हमारा नाता है और इसलिए मैंने कहा एच हाईवे आई इंफॉर्मेशन भी T transmission way trans way ये मैं हिट करना चाहता हूं और आप भी चाहेंगे ये हिट जल्दी हो मुझे विश्वास है कि हम अब हमें लगता है जितना जल्दी नेपाल को हमारे पास बुला सके हम बुलाना चाहते हैं अब इसको खिसक कर तो, तो ले जाने वाला विज्ञान तो भी आया है नहीं है लेकिन अगर महाकाली नदी पर ब्रिज बन जाए तो मेरे और आपके बीच की दूरी बहुत खत्म हो जाएगी आप एकदम हमारे पास आ जाएंगे आज हमें घूम घाम करके पहुंचना पड़ता है महाकाली नदी पर ब्रिज बन गया तो हमारा हमारी दूरियां कम हो जाएगी और हम इस बात पर बल देकर के आगे बढ़ना चाहते हैं उसी प्रकार से सीमा हमारे लिए बॉर्डर जो है वो बैरियर नहीं हो सकती बॉर्डर ब्रिज बनना चाहिए और हम चाहते हैं भारत और नेपाल की सीमा इस प्रकार से वाइब्रेंट हो अच्छेपन की लेन देन होती रहे हैं ताकि आपका भी विकास हो भारत के भी आपके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको भी विकास का भी अवसर मिले एक योजना आज मैं प्रधानमंत्री जी से बता रहा था मैंने कहा कि हिमालय पर रिसर्च होना बहुत जरूरी है इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा है भारत ने उस पर एक काम शुरू किया है हमने हमारे इस बजट में भी उसकी घोषणा की है नेपाल भी उसमें आगे बढ़े और हम मिलकर के हिमालय की शक्ति मानव जात के लिए कैसे काम आ सकती है उसके वेज एंड मीन्स क्या हो उसके सामर्थ्य को हम पहचाने विज्ञान की उन नई परतों को हम खोले और मानव जात के कल्याण की दिशा में हम जरूर काम करें उसी प्रकार से हम प्रयास करना चाहते हैं कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूं अमेरिका टेलीफोन करना है तो बड़े सस्ते में हो जाता है लेकिन नेपाल फोन करना है तो बड़ा महंगा पड़ जाता है हमें समझ नहीं आता है ये क्या बात है ऐसा कैसे बैरियर और नेपाल के लाखों लोग हिंदुस्तान में रहते हैं मेरे परिवार से बात करना चाहते हैं वो कर नहीं पाता है नमस्ते करके फोन रख देता है मैं स्थिति बदलना चाहता हूं दोनों दोनों देशों में ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे मिलकर के हम भी बात करेंगे आप भी बात कीजिए ये तो ये कनेक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में बड़े आराम से सहज से कम खर्चे पे बात हो और उसी से उसी से तो नाता जुड़ता है लाइव कम्युनिकेशन जितना बढ़ता है उतने नाता बढ़, बनता है और हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं अभी आपने सुना होगा जब मैं मेरा शपथ समारोह था मैं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला था मैंने सार्क देशों को निमंत्रित किया था और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो बहुत ही कम नोटिस में आप आए और मैं मानता हूं कि साक देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने का एजेंडा लेकर आगे क्यों ना बढ़े गरीबी के खिलाफ लड़ाई में हम दोनों हम सब सभी सार्क देश एक दूसरे की मदद करें और उसमें एक काम सार देशों को और भारत का दायित्व है हमको उपकार नहीं करते हम मानते हैं हमारा दायित्व है कि हमारे अड़ोस पड़ोस के हमारे जितने भी छोटे भाई जाए हमारे साथी भाई हैं उनकी उनकी विकास यात्रा में हम मदद रूप हो और इसलिए अभी अभी मैंने घोषणा की है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ हमारे सार्क देशों को मिलना चाहिए और इसलिए भारत की तरफ से एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिस सार्क सैटेलाइट का लाभ सैटेलाइट का लाभ हेल्थ सेक्टर के लिए एजुकेशन सेक्टर के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ सार्क देशों को मिले नेपाल को मिले उस दिशा में हमने कदम उठाना तय किया है और इसलिए इसका आगे वाले दिनों में जरूर लाभ मिलेगा उसी प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपने देखा होगा हम इतने पास में हैं आप और बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है आते आते सत्रह साल लग गए <laughs> यह अखरता है मैं आपको वादा करता हूं अब ऐसा नहीं होगा और मैं तो कुछ ही महीनों में वापस आ रहा हूं चार समिट के समय और मैंने उस समय तय किया है कि मैं उस समय जब आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा भगवान बुद्ध को भी नमन करने जाऊंगा ये खुशी की बात है कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट बहुत पहले तय हुआ कितने रुपये की लागत बढ़ गई लेकिन अब अथॉरिटी का निर्माण दोनों देशों में हुआ है मैं मानता हूं एक साल के भीतर भीतर 5,600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट काम आरंभ हो जाए आप कल्पना कर सकते हैं नेपाल की कितनी बड़ी सेवा होगी आज नेपाल के पास जितनी बिजली है उससे करीब करीब पांच गुना बिजली छोटी बात नहीं है जी विकास को कितनी नई ऊंचाई मिल सकती है और उसके लिए भारत बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर के आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो और हम आपको उस दिशा में पूरा प्रयास करेंगे एक बात की ओर मैं चाहूंगा जैसे मैंने कहा हर्बल मेडिसिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वैसे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है जो माल रुपये में बिकता है वो अगर ऑर्गेनिक है तो डॉलर में बिकने लग जाता है और नेपाल एक ऐसी भूमि है जहां ये संभव है भारत में सिक्किम एक राज्य आपके पड़ोस में ही माना जाएगा सिक्किम ने पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया अपने आप को और उसके कारण उसका विश्व में एक नया मार्केट खड़ा हुआ है अगर नेपाल उस दिशा में जाना चाहता है मुझे खुशी होगी आपको मदद करने की आपके साथ काम करने की उसी प्रकार से हमने एक प्रयोग शुरू किया है हिंदुस्तान में सॉइल हेल्थ कार्ड का हम जानते हैं नेपाल और हिंदुस्तान में हम नागरिकों के पास भी हेल्थ कार्ड नहीं है लेकिन हम सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को उसकी जमीन की तबीयत कैसी है कोई बीमारी तो नहीं है विशेषताएं क्या है किस प्रकार के फसल के लिए उपयोगी हैं कौन सी दवाइयां वहां नहीं डालनी चाहिए कौन सी दवाइयां ही डाली जा सकती है कितना फर्टिलाइजर लेना ये सारी वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है अगर नेपाल की रुचि होगी तो हम सोइल हेल कार्ड के इस काम को जो हम हिंदुस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं यहां के किसानों को भी अगर उसका लाभ मिलेगा तो कृषि आधुनिक हो कृषि वैज्ञानिक हो उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इसके लिए आप जरूर ही कुछ न कुछ सोचेंगे और मैं मानता हूं उसी प्रकार से आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं आज ये भी आपको घोषणा करके जाना चाहता हूं भारत नेपाल को दस हजार करोड़ नेपाली रुपए कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता देने का हमने निर्णय किया है हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्रेडिट का उपयोग नेपाल की प्राथमिकता पर होगा आप इसे हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारे क्षेत्रों में लगाएं तो ये करीब वन बिलियन डॉलर जैसे अमाउंट मैं आज और पहले इसका जो दिया हुआ है ये इससे अलग है उसके साथ इसको जोड़ना जरूर वो अलग है वो दे दिया हाँ, ये नया है <laughs> तो फिर एक बार मैं आपने मेरा स्वागत किया सम्मान किया इसलिए मैं आपका आभारी हूं लेकिन मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया की नजरें आपकी तरफ हैं विश्व बड़ी आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देख रहा है क्योंकि शस्त्र से मुक्ति का मार्ग संविधान के माध्यम से आज शस्त्र के रास्ते पर चल पड़े लोगों को वापस लाने का काम नेपाल की सफलता से जुड़ा हुआ है आप सफल हुए तो दुनिया को वापस लौटने का अवसर मिलेगा शस्त्र छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी जन मन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का रास्ता नया विश्वास पैदा करेगा आप संविधान के इस काम को उस रूप में देखें इसलिए मैं दोबारा उस बात का उल्लेख करता हूं कि आपका ऋषि मन सौ साल के बाद नेपाल कैसा हो नेपाल के लोग कैसे हो नेपाल के लोगों को क्या मिले इसका निर्णय आप कर रहे हैं और उस निर्णय में आप भगवान के बुद्ध की भूमि में विचारों की कोई कमी हो नहीं सकती इरादों की कमी नहीं हो सकती है संकल्प शक्ति की कमी नहीं हो सकती है और इसलिए एक नया इतिहास यहां से रचने जा रहा है इसको इतना बड़ा लाभ मिलने वाला है ये मुझे पूरा विश्वास है और हम सबको मैं यही कहूंगा कि हमारे जो संबंध है भारत नेपाल मैत्री ये अमर रहे भारत में नेपाल मैत्री युग युग जीवे और ये सार्वभौम राष्ट्र नेपाल हिमालय से भी नई ऊंचाइयों को ऊपर उठे इसी शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको संसदमा भर्खरै उहाँले सम्बोधन गरेर सक्नु भएको छ र नेपाललाई हित हुने विभिन्न विषयहरूमा उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ नेपालको जन्मभूमि बुद्ध जन्मभूमिको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली जिज्ञासालाई शान्त पारिदिनु भएको छ बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् यसअघि भारतले बुद्ध आफ्नोमा जन्मिएको दावी गरेको विषय थियो नेपालको संविधान यहाँको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आग्रह गर्नुभएको छ कोशी पहिरोमा पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो नेपालबाट बिजुली किन्न चाहेको यो सित्तैमा लान चाहन्न उहाँले भन्नुभएको छ पानी मधेसको अर्थात सम्म ठाउँको भारतको हितमा प्रदूषण भारतको हितमा उपयोग गर्न खोजेको पनि बताउनु भएको छ पाइप बिछ्याएर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयमा पनि सहयोगको कुरा गर्नु भएको छ त्यस्तै छात्रवृत्तिको संख्या बढाउने जडीबुटीको विकास गर्ने अनि छिमेकी धर्म निभाउन तयार रहेको पनि भन्नुभयो त्यस्तै यहाँका राजमार्गहरू त्यस्तै सूचना प्रविधिका मार्गहरू र विद्युतीय प्रसारणका मार्गहरू बनाउन सहयोग गर्ने पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ हिमालयको उपयोगिताको बारेको अनुसन्धान संयुक्त रूपमा गर्न आग्रह गर्नुभयो फोन सस्तो बनाउने भन्नुभयो सार्क गरिबी निवारणको विषय प्रसंग उठाउनुभयो र सेटेलाइट राखेर रा, त्यसबाट नेपालको र भारतको पनि स्वास्थ्य र अन्य प्रविधि विकासको प्रसंग उठाउनुभयो पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजना शुरूआत चाँडै नै गर्ने पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदमा बताउनुभयो अर्ग्यानिक खेती गर्ने प्रसंग र जमिन स्वास्थ्य कार्ड वितरणमा सहकार्यको आग्रह गर्नुभएको छ दस हजार करोड़ रूपियाँ सहयोगको वचन पनि दिनुभएको छ यसो भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भर्खरै संविधान सभा भवनमा आफ्नो मन्तव्य सकेर त्यहाँका नेता सभासदहरूसँग हात मिलाउँदै हुनुहुन्छ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनको विशेष प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं अब अहिले साढे सात बजे साझा खबरमा भेटौंला नमस्कार